और यकीनन हमने मूसा को किताब अता फरमाई पहली उम्मतों को हलाक करने के बाद जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत थी ताकि वो नसीहत हासिल करें